सामवेदीय छांद परिषद चतुर्थ अध्याय त्रयोदश खंड का कुछ विचार हो गया आगे चतुर्दश खंड आरंभ होना है चतुर्थ अध्याय में जो प्रसंग चल रहा था उपकोशल को जो अग्नियों ने मील करके पहले उपदेश किया प्राणो ब्रह्म कम ब्रह्म खम ब्रह्म ये तीन अग्नियां थी जिसमें आहरपत्य अग्नि अनुहार पचन अग्नि आहवनी अग्नि गुरु जी के यहाँ तीन अवधियां थी तीनों ने मिल करके कहा गुरु जी का अभाव है तो हम ही उपदेश करें तो प्राण ब्रह्म है माने कार्य ब्रह्म और कम ब्रह्म खम ब्रह्म माने कारण ब्रह्म सुख विशिष्ट आकाश माने हार्द आकाश तो ब्रह्म है ऐसा अर्थ किया फिर प्रत्येक ने अपने अपने उपासना बताई कार्य ब्रह्म विशिष्ट कारण ब्रह्म की उपासना मिल करके कहा सब ने उसके बाद प्रत्येक ने अंग उपासना अपने की उपासना अग्नि उपासना सबसे पहले धारपत्य अग्नि ने कहा कि <clears throat> मेरे चार शरीर हैं पृथ्वी अग्नि अन्ना आदित्य उनमें से दो भोज्य हैं दो भोक्ता है आदित्य में जो पुरुष है वो मैं हूं और जो मैं हूं आदित्य पुरुष है दोनों एक है तादात में बताया अपने में और आदित्य मंडलस्थ पुरुष में तादात बताया ग्यारह पत्य अग्नि का उपदेश उसके पश्चात अनुहार्य पदन ने कहा आपो दिशो नक्षत्राणी चंद्रमा मेरे भी चार शरीर है जल दिशाएं और नक्षत्र और चंद्रमा उनमें से जल और दिशाएं तो भोज्य कोटि के हैं और मैं अग्नि जो हूं और ये चंद्रमा एक है माने अनुहार वचन अग्नि और चंद्रमा एक दोनों एक, एक, एक चंद्रमा में जो पुरुष है वो मैं हूं जो मैं हूं माने अनुहार वचन हूं और चंद्रमा में पुरुष है ऐसा बता रहा फिर आहवानी अग्नि ने कहा प्राण आकाश हो देव विद्युत मेरे भी चार शरीर है प्राण है आकाश है दुर्योग है और विद्युत है इनमें से मैं जो आहवनी अग्नि हूं जो आदित्य विद्युत में जो पुरुष है मैं आहवनी अग्नि और जो मैं आहावन अग्नि हूं विद्युत पुरुष जो है वही ऐसा करके उपदेश दिया ये अपने अपनी उपासना बताई अग्नि उपासना तीन प्रकार की हो गई अब फिर सब मिल करके उपासना बताते हैं तीनों का फल भी बता दिया था अब सब मिल करके विशेष बात बताते हैं उपासना तो पहले हो चुकी है अब विशेष कहना चाहते हैं मंत्र है ते होचूर उपकौशला ऐसा सौम्यते अस्पद विद्या आत्मविद्या पूर्वोक्ता प्राणो ब्रह्म खम ब्रह्मेती च अच्छा ते होचूर उपकौशला ऐसा सौम्या ते अस्मद विद्या आत्म विद्या चाचार्यास्तु ते गति भक्ता आजगाम हाष्य आचार्य तम आचार्यो अभिवाद उपकोशल देहोचूर उपकोशल ऐसा सौम्यते अस्मद्द्या आत्मविद्या च स्तुते गति वक्ता इति आगगामहाश्च आचार्यः तमाचार्यो अभ्युभारः उपकोशल ते होचु ते अग्नय ऊंचू प्रसिद्ध है ते अग्नय ऊचु उन अग्नियों ने फिर कहा मिल करके कहा अलग अलग बता रहे थे फिर मिल करके कहा उपकोशल हे उपकोशल ऐसा सौम्य ते अस्मदेय ते तुम्हारे लिए हमने हमारी विद्या बताई हमारी उपासना बताई है एक एक करके अस्मद विद्या हमारी विद्या हमारी विद्या बनी उपासना हमारी उपासना बताई है हमने एक एक करके और आत्मविद्या च और आत्मविद्या भी बताई तुम्हें कम ब्रह्म खम ब्रह्म करके बताया पहले प्राणो ब्रह्म कम ब्रह्म खम ब्रह्म आत्मविद्या भी बताई हमारी विद्या भी बताइए आत्मविद्या भी बताई मैंने आत्मोपासना भी बताई और हमारी उपासना भी बताई हमने तो और आचार्यस्तु तू मानी किंतु प्रसंग बदलने के लिए तू शब्द होता है किंतु आचार्य ते गति बनता है इस उपासना का जो फल के लिए जो गति होगी फल प्राप्ति के लिए जो गति होगी मार्ग होगा गति मानी मार्ग आचार्य तुम्हें मार्ग के बारे में बताएंगे आचार्य जब आएंगे तो तुम्हारे लिए इस उपासना का जो फल प्राप्त ब्रह्मलोक प्राप्ति होनी है इसका फल उसके लिए गति बताएंगे मार्ग बताएंगे वक्ता कहा वक्ता बने बता बताएंगे लूट लगा प्रथम कहेंगे आचार्य कहेंगे इति इतना अग्नियों ने कहा तब तक आजगाम अश्य आचार्य इस अश्य उपकोशल से आचार्य आजगाम उपकोशल के गुरु जी आज पहुंचे तम हो तम आचार्य अभिवाद है तम उपकोशलम आचार्य अभिवाद उस उपकोशल को आचार्य ने कहा उपकोशल इति संबोधन करके कहा हे उपकोशल ऐसा संबोधन करके कहा क्या कहा तो आगे क्या उत्तर होगा आगे बताएंगे ठीक है कहते हैं अग्नि नाम मिथो विषमवादम व्यावर्तेगी अग्नियों ने भिन्न भिन्न प्रकार की उपासना बताई दारेपत्य अग्नि ने कहा पृथ्वी अग्नि और अन्न आदित्य मेरे चार शरीर हैं भिन्न और अन्न आर्य पचन ने भिन्न प्रकार कहा प्राण आदि को बताया एक इसको आपो दिशो प्राणी चंद्रमा बताया और आहावन ने बताया प्राण आकाशो देव विद्युत तो भिन्न भिन्न विसंवाद है एक नहीं कहा भिन्न भिन्न उपासना बताई यही है अग्नि नाम मिथो विसंवादम व्यावर्त अग्नियों का जो परस्पर विषमवाद है उसके व्यावृत्ति कर देंगे विषमवाद नहीं है एक ही है बताना चाह सब मिलकर के एक ही फल मिलना है अंग उपासना और अंगी उपासना दोनों मिलकर एक ही फल होना है और फल प्राप्ति के लिए जो गति है मार्ग है वो आचार्य बता हैं विषमवाद में भिन्न भिन्न नहीं या अंगोपासना थे तीन अभी बता रहे हैं और पूर्व में जो कहा था प्राणो ब्रह्म कम ब्रह्म कम अंगी उपासना मुख्य उपासना प्रधान उपासना है अंगोपासना तो अग्नि अग्नियोगी जो बातों में मिथो हम व्यावृत्ति विषमवाद नहीं है संवाद है ये व्यावृत्ति करते के साथ ते पुनः संभूय उसको फिर तीनों ने मिल करके कहा पहले मिलकर ही बताया प्राणो ब्रह्म खम ब्रह्म और बीच में अपने अपने उपासना अंग उपासना बताई थी और प्राणो ब्रह्म खम ब्रह्म प्रधान उपासना मुख्य उपासना बताई थी फिर मिल करके बोलते हैं सब अग्नि ने कहा ते पुनः या उचरू ते अग्नया भूया मैंने फिर संभूय मिल करके ऊंचूह अग्नियों ने कहा हाँ, उपकोशला हे उपकोशला ऐसा सौम्य थे तब अस्मद विद्या अग्नि विद्या इत्यर्थ हे सौम्य तुम्हारे लिए हमने जो बता दिया ये अग्नि विद्या माने हमारी विद्या माने अग्नि विद्या माने अग्नि उपासना बताई एक एक करके हमने कहा और आत्मविद्या पूर्वोक्ता आत्मविद्या पहले कहा हमने क्या कहा था प्राणो ब्रह्म कम ब्रह्म खम ब्रह्म ये भी बता दिया था तुम्हें आत्मविद्या भी बताई हमारी विद्या भी बताई और आत्मविद्या भी बताई मैंने अंग उपासना भी बताई अंगी उपासना भी बताई ये कहा और आचार्य आचार्य अस्तु जो आचार्य जी है तुम्हारे गुरु जी हैं वह तो हमारे किंतु ते गति भक्ता गति मार्ग बताएंगे उस उपासना के फल प्राप्ति के लिए जो जाना होगा मार्ग तय करेंगे गति मानी गति मार्ग कथन करेंगे विद्या फल प्राप्त है गति किसके लिए बताएंगे इस उपासना की फल की प्राप्ति के लिए फल प्राप्त करना है उपासक को जाना है उत्तरायण मार्ग से जाना है तो उसके लिए मार्ग बताएंगे गति आचार्य वस्तु ते माने तुभ्यम तो गति बता गति बताएंगे विद्या फल प्राप्त है इसी उपर, उपरे मुहर अग्नया इतना कथन करके अग्निया जो है उपराम हो गए चुप हो गए तीनों अग्निया चुप हो गई ऊपर हूं रम धातु है आत्मनिपद ये क्या यहाँ रराम रेमतु रेमु बना रखा परस्मय पद में उपाच्य ऐसा सूत्र है हाँ, ऊपर से परे रम धातु क्या होगा परस्मय पद में प्रयोग हो जाता है यद्यपि धातु रमते होता है आत्मनिपदी धातु है रम क्रीड़ाया किंतु ऊपर एमु लिट लगा प्रथम पुरुष बहुवचन है परस्मय पद में प्रयोग हुआ यहाँ उपाच्य सूत्र लगा है उपयोग अवदय आचार्य तुम्हारे लिए फल प्राप्ति के लिए ब्रह्मलोक इसका उपासना का फल ब्रह्मलोक मिलना है उसके लिए गति बताएंगे ते अर्चिसम अभिसम संधि इत्यादि आगे मंत्र आएगा ऐसा होगा ये कहा तब तक आज काम अच्छे आचार्य लेना कुछ समय को लेकर के उसी समय तो नहीं आए कालेना समय होने पर कुछ समय के बाद आचार्य जी पहुंच गए उसके आचार्य गुरु जी आ गए तम च शिष्यम आचार्य अभिवाद उस शिष्य को उपकोष को आचार्य ने कहा क्या कहा उपकोशल ऐसा संबोधन किया उपकोशल दुराभूत सूत्र है ना संबोधन में प्लुत हो जाता ठीक हे उपकोशल ऐसा कहा हे उपकोशल ऐसा संबोधन किया अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है तथापि आत्मविद्या श्रोतव्य ते पुनर्कहा उपगोसल ऐसा थे अस्मद विद्या अग्नि विद्या बताई ये, ये तुम्हारे लिए जो हमने बताया हमारी विद्या बताया मैंने अग्नि विद्या बताएगा फिर आत्मविद्या रह गई कहते नहीं आप आत्मोपासना रह गई तो कहा नहीं नहीं आत्मविद्या च आत्मविद्या इत्यादि कहा था आत्मविद्या पूर्वोक्ता प्राणो ब्रह्म कम ब्रह्म खम ब्रह्म इत्या आत्मविद्या पहले बताया था मिलकर के सबने प्राणो ब्रह्म कम ब्रह्म खम ब्रह्म इस शब्द से कहा था आत्मविजय में बता दी कहा कथम आचार्य उपदेशम अंतरेण भगवत उपदेश अवसाद एवं विद्या फलवती आचार्य दैव विदिता साधिष्टम इत्यादि ही प्रागुतम बता माने उपकोषण कर सकता है अग्नियों से कि ये ये प्रश्न कर सकता है कथम आचार्य उपदेशम अंतरेण आचार्य के उपदेश के बिना अंतरेण माने बिना आचार्य गुरु जी के उपदेश के बिना आचार्य उपदेश के बिना भगवत उपदेश अवसाद आपके उपदेश मात्र से आप अग्नि है भगवत भगवत उपदेश अवसाद है आपके उपदेश मात्र से गुरु जी के उपदेश के बिना केवल आप अग्नियों के उपदेश मात्र से मैं विद्या कथम फलवती मेरी विद्या जो होगी उपासना कैसे फलशाली होगी क्योंकि मैंने सुना है आचार्य अधर्म विद्या विदिता साधिष्टम इत्यादि प्रागुतम पहले कहा था बात नवम खंड में आया था सत्यकाम जावल ने ऐसा कहा था गुरु जी से गुरु जी के द्वारा ही जो विदित है प्राप्त विद्या है वही अत्यंत साधुतम होती है ऐसा कहा था नवम खंड में आया था इसलिए प्रागुत तो अतः इसलिए कहा हाँ नहीं नहीं आचार्य भी कहेंगे अग्नि कहते हैं आचार्य स्तुते गतिम वक्ता ऐसा आचार्य तुम्हारे लिए उस उपासना के फल प्राप्ति के लिए मार्ग को बताएंगे यति मान मार्ग कथन करेंगे ये कह करके अग्नि उपराम हो गई ये कहा आचार्य आ गए आचार्य ने कहा उपकोषद ऐसा शब्द से संबोधन किया तो उत्तर देगा वो भगवा इति प्रतिशुस्राव ब्रह्मविदा इव सौम्यते मुखम भाति कोनुत्वा अनुशासेति

यमुन सौम्य किलते अवोचन जब उपकोशला इति आचार्य ने संबोधन किया तो उपकोशल ने उत्तर दिया भगवा इति भगवान ऐसा भगवा मान भगवान भगवान में नकार को भगवत शब्द था तक मधु के तकार को रू हुआ है मतु स्वरू छंदसी संबुद्ध छंदसी ऐसा सूत्र है हे भगवा वो भी संबोधन हे भगवान इतिहा प्रतिशुश्राव ऐसे उत्तर दिया हे भगवान ऐसा बोला जब गुरु जी ने कहा उपकौशल ऐसा तो शिष्य ने कहा भगवा इति प्रतिशुश्राव हे भगवान ऐसा उत्तर दिया गुरु जी कहते हैं ब्रह्मविदा ये सौम्यते मुखम भाती हे सौम्य हे बेटा हे प्रिय दर्शन ब्रह्मविद्ता के समान तुम्हारा मुख प्रकाशित होता है क्योंकि ब्रह्मविद्ता का चार लक्षण होता है पहले आया था प्रसन्न इंद्रिय हाँ, प्रहसित बदन निश्चिंत और कृतार्थ चार लक्षण होते वो दिख रहा तुम्हारे में प्रवृत्ता के जो चार लक्षण है वो चारों लक्षण तुम्हारे में भाष रहा है ब्रह्मविदा इव सौम्यते मुखम भाती तुम्हारा मुख कमल जो है ना ब्रह्मविद्ता के समान प्रकाशित हो रहा है महादीप्त तो दीप्यमान हो रहा है प्रकाशित हो रहा है ऐसा कहा कौन तो अनुशास इति तुम्हें किसने उपदेश किया तुम ब्रह्मवेत्ता जैसे लग रहे हो तुम्हारा बुक कमल ऐसा बता रहा है ब्रह्म विद्या के ब्रह्मवेत्ता के लक्षण तुम्हारे में घट रहा है प्रसन्न इंद्रिय है और प्रसिद्ध वजन है मुख खिला हुआ मुस्कुराहट है निश्चिंत है चिंता नहीं है जीवन में और कृतार्थ है जो कुछ करना कर लिया ऐसी अवस्था में हो दिखाई पड़ती है तुम्हारी मुख कमल ऐसे बता रहा है उसने कुछ बोला नहीं अनुमान से ऐसा लग रहा है तो किसने तुम्हें उपदेश किया कौन त्वा अनुशासा त्वा मैं त्वाम किसने तुमको अनुशासन किया मैंने उपदेश किया ऐसा गुरु जी ने पूछा इति ऐसा तो उत्तर देता है कौन मान शिष्याद हो गुरुदेव कौन मुझे उपदेश कर करेगा आपके बिना आप नहीं तो कौन कर सकता है आपके शिष्य को दूसरा कोई उपदेश कर सकता है कौन मां अनुशिष्याद भो इति ऐसा बोल के इति यह अप इव निहणित छिपाता जैसा किया अप निहणित इव और इव को निहणित इव को जाना अप यह यहां पर यह माने यहां क्या करने लगा अपनिर्णित इव ऐसा हो जाएगा माने छिपाता हुआ जैसा कर दिया उपदेश तो मिला है उसको तो कौन उपदेश कर, कर सकता आपके बिना मेरे को ऐसा करके छिपाता हुआ ऐसा किया फिर आगे जा करके अग्नि के तरफ अं- संकेत किया इमे ये जो अग्निया है ना गुरुदेव ये अग्निया जो तीनों इमे ये अग्निया नूनम ईदृशा अभी मुरझाई हुई है इस प्रकार की है अन्य दृशा पहले अन्य प्रकार की थी अग्निया जब आप यहां रहते थे तो अन्य प्रकार की थी ये अग्निया अब अन्य प्रकार हो गई है इसके मतलब ये गलतियां इनकी है इमे एक अग्नि की तरफ संकेत किया इमे ये जो अग्नियां हैं नून मन अवश्य नून मन अवश्य ही ये अग्नियां ईदृशा अभी जिस प्रकार है ना आपको देख करके कांपती हुई हो रही है कुछ घबराहट हो रही है उनको अन्यादृशा पहले अन्य प्रकार के थे ये अभी इस प्रकार के हो गए हैं अन्यादृशा संता ईदृशा अन्य प्रकार होते हुए अभी इस प्रकार हो गए हैं अग्निया ऐसा यह अग्नि अभ्युदय उसने अग्नि को ही संकेत किया यही उपदेश किया है क्यों पहले अन्य प्रकार के थे अभी अन्य प्रकार दिखाई पड़ रहे हैं इसका मतलब यही है ऐसा संकेत किया था जी ने पूछा क्यों न सौम्य लेते अभोचन हे सौम्य फिर तुम्हें क्या उन्होंने कहा क्या उपदेश किया ये अभिजन ऐसा गुरु जी ने पूछा आगे उत्तर देगा साथ है क्या हाँ ये साथ है इदम प्रतिज्ञे प्रतिज्ञ लोकान भाव किल सौम्यते अवोचन अहम तो ते यद्वक्षा यथा पुष्कर पलास आपो न शिष्यन्ते एवं विधि पापम कर्म न सृष्यते ब्रवीतुदे भगवानिति तस्मै होवाच इदमितिह प्रतिजज्ञे लोकान् वाव किल सौम्यते अवोचन अहम तू ते यद्वक्ष्यामि यथा पुष्करपलाशापो न श्लिष्यन्ते एवं एवं विधि पापं कर्म न श्लिष्यते इति ब्रवीतु मे भगवानिति तस्मय हो तो गुरु जी ने जब पूछा तो अग्नियों ने फिर क्या कहा बेटा ऐसा पूछा तो कहते इदम इति पूरा बताया ने थोड़ा बता दिया इस प्रकार ये कहा इदम इति ऐसा कहा इति है प्रतिज्ञा ऐसा उत्तर दिया उपकोशल ने तब गुरु जी कहते हैं लोकान बाबा किलो सौम्य थे अवचन ते माने जो अग्निया है ना वो तो उन अग्नियों ने तुम्हें लोगों के विषय में कहा ब्रह्मलोक प्राप्ति ब्रह्मलोक के विषय लोक के विषय में कहा अहम तो ते यद बक्ष्यामी मैं जो कहूंगा तुम्हें तो, तो मान किंतु अहम ते यद बक्ष्यामी मैं जो जो बताऊंगा तुम्हें तो यथा पुष्कर पलाशे आपो न शिष्यंते जिस प्रकार कमल के पत्ते में पुष्कर माने कमल और उसमें आप जल पुष्कर का जो पलाश माने पत्ता है कमल का पत्ता में जिस प्रकार जल बैठ नहीं सकते जल निकल जाते हैं रह नहीं सकते ठीक इसी प्रकार एवं एवं विधि पापम कर्म निषेधे मैं उसको बताऊंगा जिस प्रकार कमल के पत्ते में जल का स्पर्श नहीं हो सकता उसी प्रकार ये इस मैं जो बताऊंगा इसको जानने वाले में पाप कर्म का संबंध नहीं होगा ऐसी बात मैं बताऊंगा गुरु ने कहा उपकोषण ने कहा ब्रवीतु में भगवान मे मह्यम भगवान ब्रवीतु आप मुझे बताएं तब तस्मय होगा सर उस उपकोष के लिए कहा आगे मंत्र में है भाष्य में कहते हैं भगवा इतिह प्रतिशुश्राव जब गुरुजी ने कहा उपकोशला इति पूर्व मंत्र के अंत में कहा तो उत्तर दिया भगवा इति प्रतिशु हे भगवान ऐसा करके उत्तर दिया ये कहा ब्रह्मविदा सौम्य थे मुखम प्रसन्नम भाती गुरु जी ने कहा एक बेटा हे सौम्य हे प्रिय दर्शन ते मुखम ब्रह्मविदा ये मुखम प्रसन्न भाती तुम्हारा मुख कमल जो है ना ब्रह्मदत्ता जैसे प्रकाशित हो रहा है मैंने ब्रह्मदत्ता का लक्षण तुम्हारे में दिख रहा है मैंने तो उपदेश किया नहीं है मेरे अभाव में किसने उपदेश किया ये कहना चाहते हैं मुखम भाती क्योंकि ब्रह्मदत्ता का जो लक्षण होता है प्रसन्न इंद्रिय प्रसिद्ध बदना निश्चिंत और कृतार्थ चार लक्षण होते हैं वो तुम्हारे में दिखाई दे रहा है तो गुरु जी ने कहा ब्रह्म ये सुनने के मुखम मैंने प्रसन्नम बहती वो प्रसन्न दिखता है तुम्हारा ब्रह्मविद्ता जैसा लग रहे हो कोनु त्वा अनुशास इति उक्ता प्रत्याह तुम्हें त्वा मैंने तुम त्वाम तुमको तुम्हारे लिए क अनुशास किसने उपदेश किया ब्रह्मविद्ता जैसे लग रहे हो कौन उपदेश किया ऐसा गुरु जी ने पूछा इति उक्ता प्रत्यय गुरु जी के द्वारा जो कहा हुआ उपकोशल ने उत्तर दिया उत्तर क्या दिया कि कोणुमा अनुशिष्याद अनुशासन पुण्याद वो भगवस्तोई पुरुषिते ऐसा बोलती आपके चले जाने पर भगवत पुरुषिते आपके जाने पर भगवत हे भगवान त्वयी पुरोषित आपके चले जाने पर कौन मा अनुशिष्याद अनुशासन कुरियाद मेरे को उपदेश कौन करता कोई है ही नहीं जब आप चले गए तो ही प्रोषित है आपके चले जाने पर आप तो चले गए जाने पर कौन मां शिष्य आत्मा ने अनुशासन को याद हो मेरे को अनुशासन कौन करेगा उपदेश कौन करेगा इति इस प्रकार यह अपनिर्णुते माने अपनियमित इव अपन अपेव निहुनिते मंत्र में है किंतु अर्थ करना इव को बाद में ले जाकर जोड़ना अपनिर्णुते छिपाता हुआ जैसा किया कौन उपदेश करता करके जो उपदेश मिला था उसको छिपाता हुआ सा किया युवा लगाया वास्तव में छिपाया नहीं छिपाता हुआ जैसा किया युवा लगाया अपनिर्मित व्यवहित संबंध वहां मंत्र में है अपेव निहुनते ऐसा है वो इव को लाके निहुनित के बाद में लगाना बोलते हैं व्यवधान पूर्वक संबंध कर देना अपनिर्मित इव ऐसा अर्थ करना ये वाषिकार ने कहा न तो अपनिर्मित इव लगाने से वास्तव में छिपाता नहीं है इव माने सादृश्य छिपाता जैसा वास्तव में छिपाता नहीं न तो अपनिमिते छिपाता नहीं न तो यथावत अग्निभ्र उत्तम प्रवृत्ति अभिप्राय यह है जैसा अग्नि ने कहा उसे यथावत नहीं बोलता पूरा पूरा नहीं बोलता कुछ आंशिक बोलता है पूरा नहीं बोलता गुरु जी को इसका अर्थ अपनिमित प्रकार था न तो यथावत अग्निभ्र उत्तम प्रवृत्ति अग्निओं ने जिस प्रकार कहा जैसा कहा वैसा पूरा नहीं बोलता यह अभिप्राय इसका कथम कैसे कृपा कहा ये इस प्रकार बताए इमे अग्नयो हो ये जो अग्निया है ना गुरुदेव ये अग्निया मया परिचरिता मेरे द्वारा सेवित अग्निया है जिसकी बारह साल तक सेवा की है मया परिचरिता इमे अग्नया मेरे द्वारा सेवित जो अग्निया है उक्तवंतो नूनम अवश्य इन्होंने कहा होगा नूनम माने अवश्य अवश्य इन्होंने कहा होगा मेरे द्वारा जो सेवित अग्नियां हैं इन्होंने कहा जरूर कहा यह स्वाम दृष्टवा बेपमाना देखिए आपको देख करके कांप रहे हैं ये अग्नि अभी पहले अन्य प्रकार के थे अभी अन्य प्रकार हो गई है पहले ठीक ठाक थे अभी तो आपको देखते ही कांपने लग गए मंत्र में था ना नूनम अन्य अन्यादृशा अभी इस प्रकार हो गया अन्य प्रकार थे पहले अब इस प्रकार हो गए हमें अभी कांप रही है अग्नि आपको देख डर के मारे नूनम यतस्वान दृष्टवा बाना इव ईदृश आपको देख करके कांपती हुई सी हो रही है इस प्रकार दृश्यंते पूर्वम अन्य संत पहले अन्य प्रकार की थी अग्निया थी अभी भयभीत हो रही है आपको देख करके इति यह अग्नि अभ्युदय अभ्युक्तवान काकवा अग्नि दर्शय इस प्रकार अग्नि को विषय में कहा उसने दिखाया अभ्युक्तवान काकवा भय के बारे में काकू शब्द का तृतीय काकुआ भय अग्नि दर्शन भी तोता हुआ अग्नि को दिखाता हुआ कहा काकू शब्द है उसका काकुआ तृतीय जैसे तनु का तनु और होता है भय के द्वारा ऐसा दिखाता अग्नि को दिखाता हुआ कहा तो गुरु जी ने पूछा किमुन सौम्य थे किलते किमुन सौम्य किलते तुभ्यम अभोचन अग्नि की पृष्ठ पृष्ठ गुरु जी ने जब पूछा हे सौम्य तुम्हें तो फिर अग्नियों ने क्या कहा क्या उपदेश किया तुमने ऐसा गुरु जी ने पूछा तो कहा इतम इति ऐसा पूछने एवं इदम उक्तवंत इति एवं हर प्रत्येक इस प्रकार कहा करके संक्षेप में बताया पूरा नहीं बताया इदम उक्तवंत यह अग्नि ने ऐसा कहा इति एवं है प्रतिज्ञ प्रतिज्ञातवान प्रतीक मात्र किंचित प्रतीक मात्र थोड़ा बताया अग्नियों ने ऐसा कहा करके पूरा नहीं बताया थोड़ा बताया न सर्वम यथोक्तम अग्निगिर उत्तम सारे सारे अग्नियों ने कहा सारा नहीं बताया गुरु जी को उसने अग्निभिर उत्तम अवोचर अग्नियों ने जितने कहा था सबको नहीं कहा थोड़ा बता दिया यथा आचार्य इसलिए आचार्य का सारा बोलता तो ब्रह्म का भी उपदेश हो जाना था किंतु ब्रह्म का उपदेश छिपाया उसने केवल लोक के विषय में अग्नि जो अग्नि उपासना बताई उतने बताया इसलिए यथा आचार्य इसलिए आचार्य कहते हैं लोकान भाव पृथ्वी आदि हे सौम्य किलते अवचन लोग को ही बताया पृथ्वी अग्नि अन्न आदित्य इत्यादि इनके यही उपदेश को यही उपदेश कहा करके बता दिया अग्नि अग्नि विद्या को बताया आत्मविद्या को नहीं बताया उसने पूरा नहीं बताया इसलिए कह रहे हैं गुरु जी कह रहे हैं लोगों के विषय में बताया मुख्य बात नहीं बताई ये आचार्य यथा आचार्य लोकानुभाव पृथ्वी आदि हे सौम्य किलते आभूषण तुम्हारे लिए अग्नि होने लोक के विषय में बताया क्यों पृथ्वी अग्नि अन्न आदित्य इत्यादि है तो लोक के विषय में कहा था ये यही बताया तुम पहले वाला छिपा दिया प्राणो ब्रह्म कम ब्रह्म खम ब्रह्म बताया नहीं पूरा नहीं बताया उसने गुरु जी को इसलिए अवसर न ब्रह्म साकल्य न ब्रह्म का संपूर्ण रूप से उपदेश नहीं किया अग्नियों ने ये गुरु जी का कहना है अहम तो मैं अब उपदेश करूंगा तुम्हें ब्रह्म का अहम तो मेरे मैंने तुभ्यम तुम्हारे लिए तद ब्रह्म यदि चसी तुम श्रोतुम जिसके बारे में तुम सुनना चाहते हो उस ब्रह्म का उपदेश मैं करूंगा हम तुते तुभ्यम तद ब्रह्म उस ब्रह्म का उपदेश करूंगा यदि इच्छा सी तुम श्रोतुम जिसके बारे में तुम सुनना चाहते हो उस ब्रह्म को मैं तुम्हें बख्शानी उस ब्रह्म का कथन करता हूं श्रृणो तुम सुनो तस् मया उच्च मानस्य ब्रह्मणो मेरे द्वारा कहे जाने वाला जो ब्रह्म होगा उसके बारे में सुनो ज्ञान महात्म उसके ज्ञान की जो महिमा होगी उसको समझो वो जहां रहता है वो ब्रह्म वहां भी घी डालो पानी डालो रुकता नहीं चले जाता है इतना असंग है उसके कुर्सी भी असंग है आंख और वो ब्रह्म कितना असंग होगा मैं उसके बारे में कहूंगा ही बोलेंगे जहां वो ब्रह्म रहता है यशो अक्षण पुरुषो दृश्य सब ब्रह्मित होगा ऐसा आएगा तो इस आंख में घी डालो चाहे पानी डालो तुरंत को से बाहर निकल जाता है आंख में डूबता नहीं कुछ उसके जो रहने का स्थान भी इतना असंग है तो ब्रह्म कितना असंग होगा मैं उसका उपदेश करूंगा ये कहना चाहते हैं तस्य मया उच्चवान से ब्रह्मणो ज्ञान महात्मा उस मेरे द्वारा कहे जाने वाला जो ब्रह्म होगा उसके जो ज्ञान की महिमा है वो मेरे से सुनो यथा पुष्कर पलाशे पद्म पत्र जैसे कमल के पत्र में पुष्कर पलाश माने कमल पत्र पद्म पत्रे आपो न श्रेष्यंत जल का संपर्क नहीं होगा ठीक इसी प्रकार एवं यथा बक्ष्यामी जिस प्रकार मैं उस ब्रह्म का कथन करूंगा ब्रह्म ब्रह्म ब्रह्म भक्ष्यामी ब्रह्म यथा भक्ष्यामी ब्रह्म एवं विधि जिस प्रकार मैं ब्रह्म का कथन करूंगा एवं विधि इस प्रकार जानने वाले के पापम कर्म नशिष्य पाप कर्म का लेस नहीं होगा संबंध नहीं होगा उसमें न थे न लिश्य से न थे पाप कर्म ये पायमान नहीं होगा इतम उत्तवती आचार्य आचार्य आह इस प्रकार कहने वाले आचार्य ने उपकोशल कहता है आह उपकोशल हो उपकोशल ने कहा उपकोशल ने कहा क्या कहा ब्रवीत में भगवान की गुरुदेव मुझे बताइए जरूर कैसा कहा तस्मय होगा आचार्य आचार्य कहते हैं तो जिस प्रकार कमल के पत्ते में जल का संग नहीं होता उसी प्रकार उस ब्रह्म को जानने वाला जो होगा उसमें पाप कर्म लिपायमान नहीं होगा मैं उस ब्रह्म के बारे में बोलूंगा बोला यही है देखो कमल जल में रहता है कीचड़ में रहता है रहते हुए भी उसका संबंध नहीं करता इसी प्रकार कोई भी व्यक्ति जब पैदा होता है संसार में पैदा होगा संसारी बन के ही आएगा जो यहीं रहते रहते इन संसार से असंग होने का जिन्होंने अभ्यास किया वो महात्मा हो गए उनका नाम महात्मा पड़ा और जो इसी चक्कर में फंस गए वो संसारी हो गए संसारी और महात्मा में इतना अंतर है पैदा होते समय समान ही पैदा होना है जो महात्मा हो चाहे संसारी हो ये संसार में पैदा होना है संसार में रहना है सब कुछ वही है किंतु इस संसार के उलझनों को सामने न करते हुए अपने काम करने लग गए जो लोग वो महात्मा कहलाए हैं और हम छोटे छोटे उलझनों में तिलमिला जाते हैं तो हम संसार इतना गीता के द्वितीय अध्याय में कहा आपूर्यमाणम अचल प्रतिष्ठम समुद्र महाप्र प्रविशंति अद्वत तद्वत कामायम प्रविशंति सर्वे सशांति महाप्रोति काम काम ऐसा है नदियां उछल उछल करके जा रही है समुद्र को विक्षेप कर विक्षोभ कराना चाहती है सामने वाला जो उछल के आएगा तो विक्षेप कराने के लिए आएगा किंतु समुद्र को कोई फर्क नहीं पड़ता शांत रह जाता है उस शांति के कारण क्या होता है यह स्वयं इनको भी शांत हो जाना पड़ता है वो शांत सामने वाला शांत हो जाता है तो स्वयं इनको भी शांत होना पड़ता है नदियां स्वयं शांत हो जाती है ठीक इसी प्रकार जितने भी कामनाएं आती है उस कामनाओं को जो गिनता नहीं है वो कामनाएं आत्मा में ही समावेश हो जाती है हो जाती है उसी को शांति मिलेगी संसार के विक्षेप जिसको विक्षेप नहीं पहुंचा सकता है ऐसे व्यक्ति को ही शांति मिलती है वैसे यहां भी है का से देखें अपनियमित इव इति इत्यत्र इव शब्द तात्पर्य दर्शाएगी अपनियमित इव कहा तो इव का तात्पर्य बताते हैं इव क्यों लगाया वास्तव में छिपाता ऐसा क्यों नहीं कहा जाए अपनियमित इव इत्यत्र जो अपनियमित इव शब्द आया इसमें इव शब्द तात्पर्य इव शब्द का जो तात्पर्य है वो दिखाते हैं न यथावत अग्निभिर उत्तम प्रवृत्ति है अग्नियों ने जितना कहा पूरे पूरे नहीं बोलता ये तात्पर्य युव शब्द लगने से अर्थ आया पूरा नहीं बोलता थोड़ा बोला या अग्नियों ने उपदेश किया करके संकेत से बता दिया किंतु पूरा नहीं बताया उत्तम अभिप्रायम आकांक्षा पूर्वक ये जो इसका अभिप्राय जिज्ञासा पूर्वक व्याख्या करते हैं कथम कैसे बताया तो कहा ये बता दिया ये भी अग्नय इत्यादि दिखा ये अग्निया पहले अन्य प्रकार की थी हाँ अभी बिल्कुल बुरझाई हुई है भयभीत हो रही आपको देख के कांप रही है इसका मतलब जरूर इन्होंने कुछ किया होगा ऐसा करके संकेत कर दिया अग्नि कर ये कहा एक कथम इवे अग्नयो मया परिचिता उक्तवंत हो इमे अग्नय ये उत्तर दिया यही अग्निया जो है मेरे द्वारा जो परिचरित थे सेवित थे इन्होंने कहा नूनम अवश्य ही इन्होंने कहा यस्वाम दृष्टा देपमान जो आपको देख करके कांप रही है कांपती हुई सी है देवमाना दृशा दृश्य प्राप्ति हुई से दिखाई पड़ती है इत्यादि कहा ठीक है कहते काकुआ शब्द का अर्थ करते हैं काकुआ अग्नि दर्शन आया था अग्नि को दिखाता हुआ कहा काकुआ बोला काकुआ बने स्वर भंगेर भीत सन माने गला रोदा हुआ है उसका गुरु जी के सामने डर डरता डरता बोल रहा है तो उसके ऊपर भी डांट पड़नी है मेरे शिष्य को दूसरे ने उपदेश कर दिया उसने कैसे उपदेश लिया दूसरे से उसको भी डांट पड़ सकती है अग्नि को भी डांट पड़ सकती है इसलिए क्योंकि पहले जमाने में ऐसा नहीं था दूसरे के शिष्य को दूसरा उपदेश नहीं उनकी अनुमति के बिना नहीं कर सकता उनकी अनुमति चाहिए गुरु जी का अनुमति हो आप उपदेश करो तभी कर सकता था नहीं नहीं कर सकता आज जैसा नहीं इसलिए कहा काकुआ मैंने स्वरभंगेण भीतासन उसके गला रुदा हुआ है डर के मारे डरता हुआ उक्तवान अस्फुटम इतिहावत अस्फुट कहा स्पष्ट नहीं बोला डरता हुआ सर थोड़ा सा बता दिया ये अग्निया पहले दूसरे प्रकार के लिए अभी दूसरे प्रकार दिख रही है ऐसा संकेत कर दिया ये कहा भीतिम शिष्य से अपनयन आचार्य होते शिष्य का जो भय बना हुआ डर है भीति में डर उसको हटाते हुए गुरु जी गुरु जी कहते हैं क्या बोलते हैं किमुन सौम्य किलते तुभ्यम अगोचन अग्नि थी ऐसा हे सौम्य तुम्हें अग्नियों ने क्या कहा ऐसा गुरु जी ने पूछते पर उत्तर देता इतम इत्यादि आचार्य वाक्यस्तम इति शब्द से अनुद्य व्याचष्ट आचार्य वाक्य में इति शब्द आया हुआ है किमन सौम्य किलते अवोचन इति जो आचार्य है उस आचार्य पूर्व मंत्र में जो आचार्य वाक्य में स्थित जो इति शब्द है उसको अनुवाद करके व्याख्या करते हैं इतम ऐसा करते इति फिर इति ला करके अनुवाद करके कहा इतम एवं बोलना चाहिए इतम ऐसा इतम कहा पृष्ठासन इति पूर्वेण संबंध आचार्य के द्वारा पूछे जाने पर उत्तर दिया ऐसा यस्माद अग्निवीर उत्तम आचार्याय प्रतीक द्वारा शिष्यो जीवे विद्वान जैसे अग्नियों ने कहा गुरु जी के लिए आचार्य आए मैंने गुरु जी के लिए प्रतीक द्वारा शिष्यो निवेदित संक्षेप में शिष्य ने बताया पूरा नहीं बताया तस्मात इसलिए आचार्य कहते हैं तस्मात प्राप्त हम इसलिए उपदेश पूरा नहीं हुआ समझ करके अवकाश प्राप्त करके आचार्य कहते हैं आचार्य बोलते हैं यत इत्यादि का यत आचार्य क्यों पूरा बोलता हो तो उपदेश पूरा हो गया था किंतु पूरा वो बोला नहीं है पूरा नहीं बोला उसे कम करके बोला इसलिए यथा आचार्य लोकान भाव प्रतिव्याजन सौम्य के लोग थे अब इन्होंने तुम्हें लोक के विषय बताया जैसे गारपत्य अग्नि ने कहा था मेरा चार शरीर है पृथ्वी अग्नि अन्ना और आदित्य इत्यादि करके कहा लोक के विषय बताया न ब्रह्म साकल्य न ब्रह्म के संपूर्ण रूप से उपदेश नहीं किया कह रहे हैं गुरु जी क्यों पूरा नहीं बताया उसने गुरु जी को कहते हैं टीका में कहते हैं कम ब्रह्म खम ब्रह्म इत्यादि का ब्रह्मापि तय रूपतम इतिहास है तो अग्नियों ने ब्रह्म के विषय में कहा कम ब्रह्म खम ब्रह्म इत्यादि कहा ये शंका कर कहा न ब्रह्म सा कर लेना क्योंकि वो शिष्य ने छिपा दिया पूरा बोला नहीं इसलिए पूरे ब्रह्म का उपदेश नहीं हुआ ऐसा बुद्धि ने कहा कथम तरी साकल्य न ब्रह्म ज्ञातम है पर संपूर्ण रूप से ब्रह्म का ज्ञान ज्ञातव्य कैसे हो कैसे जानना चाहिए प्रश्न आया था कहा आम तू तो, मैं जो बताऊंगा गुरु जी ने कहा हाँ, अहम तु ते तुभ्यम तद ब्रह्म यदि छसी तुम श्रो तुम बख्शामी मैं जिस ब्रह्म को कहूंगा जिसके बारे में तुम सुनना चाहते हो सुनो ये कहते हैं ब्रह्म ज्ञान एक सियाद इति आशंका ब्रह्म को जानने में क्या फल मिलेगा क्योंकि प्रयोजन अनुति से मंदो भी न पर थे किसी की भी प्रवृत्ति होती प्रयोजन को देख करके वहां जाने पर एक लाभ होगा तभी प्रवृत्ति होगी प्रवृत्ति तब तक नहीं होती तो क्या फल मिले ब्रह्म जानने पर प्रश्न आया तो कहा श्रृणु इत्यादि कहा तो श्रृणु तस्य मया उच्च मानस ब्रह्म ब्रह्मणो ज्ञान महात्मा उसके जानने का जो महात्मा महिमा है महात्मा मान महिमा सुनो यथा पुष्कर पला से पदम पत्रे आप न थे इस पर कमल के पत्ते में जल का संपर्क नहीं होता इसी प्रकार इस ब्रह्म को जानने वाले में पाप कर्म पायमान नहीं होता ये फल है ये बताया आगे मंत्र होगा मंत्र है आगे गुरु जी उपदेश करते हैं ब्रह्म के विषय भाव या येषो अक्षणी पुरुषो दृश्यते ये आत्मेति होवाच एतद अमृतम अवयम तद ब्रह्मेति तद यद्यपि तद यद्यपि अस्मिन् सर्पिर्व उदटम वा सिंचति बर्मणि एव अक्षिणी पुरुषो दृश्य एष आत्मेति होवाच एतत् अमृतम् अभयम् एतत् ब्रह्मेति तद यद्यपि अस्मिन् सर्पीर्वा उदकम वा सिञ्चति बर्मणि एव गच्छति कहते हैं देखो या ये सो अक्षणी पुरुषो दृश्यते इस आंख में जो पुरुष दिखाई पड़ता है अक्षणी सप्तमी का ये वचन आंख में आंख में जो पुरुष दिखाई पड़ता है अक्षणी ये सो पुरुषो दृश्यते एक जो दिखाई पड़ता है ऐसा आत्मा होगा यही आत्मा है बस यही आत्मा है तो आंख में जो पुरुष दिखाई पड़ता है यह आत्मा है वो बात है गुरु जी ने कहा तो आगे बोला एतद अमृतम अभयम एतद ब्रह्म यही अमृत है जो आंख में पुरुष दिखाई पड़ता है और यही अभय है और यही ब्रह्म है एतद अमृतम अभयम ये ब्रह्म ये तीन विशेष मैं सीखा है तद मान तत्र यद माने यद्यपि तद यद्यपि तद माने तत्र यद्यपि अस्मिन सर्पिर व सिंचती इस आंख में चाहे घी का सिंचाई करे घी डाले चाहे जल डाले सर्पिर व उदकम घी का सिंचाई करे चाहे जल का सिंचाई करे बर्तमनी एवं गच्छती पलकों की तरफ से निकल जाती है आंख में पर्स नहीं होता माने उसके कुर्सी के भी ऐसे महिमा है जहां ब्रह्म रहता है ऐसो अक्षणी पुरुष दृश्य थे जहां दिखाई पड़ता कहा आंख में उस आंख भी ऐसी महिमा है घी डालो चाहे डाल डालो लुढ़क करके चला जाता बाहर स्पर्श नहीं होता संपर्क नहीं होता ठीक इसी प्रकार हाँ जब कुर्सी की महिमा तो वो ब्रह्म कितनी असंग हो जब कुर्सी इतनी असंग है वो ब्रह्म कितना असंग होगा असंग ही आए बताया ठीक है हो हैं कथम उपसन्नाय आचार्य ब्रह्मचार्य ने ब्रह्मज्ञान उक्तवान इत्या जो शरणागत है उपसन्नाया शरणागत जो शिष्य है उसके लिए आचार्य उपसन्नाय ब्रह्मचारी जो शरणागत है ब्रह्मचारी उसके लिए आचार्य कथम ब्रह्म विद्या उक्तवान ब्रह्म विद्या का उपदेश कैसे किया ब्रह्म विद्या माने सगुण ब्रह्म विद्या उपासना है यहां निर्गुण ब्रह्म विद्या नहीं है सगुण ब्रह्म विद्या है उपासना है ब्रह्म विद्या कथम भूतवान ब्रह्म विद्या को कैसे कहा गुरु जी ने तब कहते हैं यह ये सो अक्षण पुरुषो दृश्यति इत्यादि कहा जो ये आत्म पुरुष दिखाई देता है कैसे हमारे द्वारा सामान्य व्यक्ति के द्वारा दिखाई देने वाला नहीं समझना तीन विशेषण है ऐसे व्यक्ति के द्वारा दिखाई देने वाला आंख में दिखाई पड़ेगा ऐसे व्यक्ति को दिखाई पड़ेगा जन सामान्य को दिखाई देने वाला तो छायात्मा होगा विरोचन की तरह हो जाएगा हाँ छाया पुरुष हो जाएगा ऐसी स्थिति तो कहते हैं किसके द्वारा दिखाई पड़ता है दिवृत्त चक्षुवीर ब्रह्मचर्यादि साधन संपन्न शांत विवेक वीर दृष्टिर दृष्टा दृष्टि दृष्टिर दृष्टा दृष्टि ये विशेषण है चार विशेषण है ऐसे व्यक्ति के द्वारा दृष्टि के दृष्टा रूप से देखा जाता है दृष्टि का दृष्टा किसकी दृष्टा आंख ठीक है कि नहीं कौन जानता है डॉक्टर तो केवल मैंने शीशा बदलता रहेगा ये ठीक है ये ठीक है यदि गलत शीशा फिट कर दिया उससे ठीक है बोल दे तो वही नंबर लिख देगा वो उसको पता नहीं अभी आपको कोई बोले अंधे हो आप मानने को तैयार है कि नहीं क्यों दृष्टेर दृष्टा दृष्टि का दृष्टा है श्रुतेर श्रोता मतेर मनता हाँ, ऐसा है बुद्धेर बुद्धा ऐसा है वो मन का भी मन है दृष्टि का भी दृष्टा है कान का भी सुनने वाला है ये जो कान है बाहर के शब्द सुनता है कान ठीक है कि नहीं कौन सुनता है मेरे मेरे कान ठीक है या नहीं है वो कौन सुनता है मैं सुनता हूं कान का भी कान है वो श्रोत्र से श्रोत्र सौ प्राण से प्राण चक्षुषा चक्षु यद बाचो हो बाचम सौ प्राण से प्राण चक्षुषा चक्षु अतिमुच्य धीरा व्यक्त्यास्मात लोकार अमृता भगवान तीनोपनिषद ऐसा तो है देखो निवृत्त धीर विषयों से जिन्होंने इंद्रियों को निगृहित कर दिया अंतर्मुखी वृत्ति में बन गए निवृत्त चक्षु चक्षु शब्द से उपलक्षण है सारे इंद्रिया जिसके निवृत्त हो गई विषयों से निवृत्त हो गई निवृत्ता निवृत्ता ने चक्षुषी यश जिसके इंद्रिया सबके सब निवृत्त हो गए विषयों से निवृत्त हो गए अंतर्मुखी वृत्ति में गई कश्चित धीर प्रत्येगात्मान अक्षर आवृत्त चक्षुर अमृतत्व अक्षर कठोपनिषद में है ये विशेषण है ये सो अक्षणी पुरुषो दृष्टि आंख में जो पुरुष दिखाई पड़ता है जन सामान्य को तो छाया दिखाई देना है वो वो आत्मा नहीं हम्म। विरोचन को उसी में आत्मभाव हो गया था इंद्र को उसमें शंका हो गई ये तो अवय एतद अमृतम अवयम एतद ब्रह्म ऐसा बोला हुआ आगे विशेषण है उसका ये अमृत है क्या मरता नहीं बोला हुआ ये तो मरने वाला है क्यों जब तक आंख है तब तक छाया पड़ना आंख नहीं तो छायात्मा नहीं है ऐसी स्थिति है आगे विशेषण है उस ब्रह्म का जो पुरुष दिखाई पड़ेगा वो कैसा है ये तद अमृतम अवयम ये तद ब्रह्म अमृत कहा अवय कहा ब्रह्म कहा इसलिए निवृत्त चक्ष भी एक विशेषण है इनके द्वारा दृष्टि के दृष्टा रूप से दिखाई पड़ता है दृष्टेर दृष्टा दृश्यते दृष्टि के दृष्टा दिखाई पड़ता है इसको देखे जाता है किसके द्वारा देखा जाए निवृत्त चक्ष भी जिनको जिनके विषयों से वैराग्य है इंद्रिया सब विषयों से विमुख होकर के अंतर्मुखी वृत्ति में जो बैठा है एक विशेषण दूसरा होगा ब्रह्मचर्यादि साधन संपन्न ही दूसरा होगा ब्रह्मचर्यादि साधन से संपन्न होगा उसके द्वारा दिखाई पड़ता है वो ये यशो अक्षिणी पुरुषों उनके द्वारा दिखाई पड़ना ऐसे तो पुरुष है वो और तीसरा विशेषण शांत ही जिसका मन बिल्कुल शांत हो गया भटकना बंद हो गया शांत है और विवेक भी हाँ विवेक वैराग्य आदि साधन चाहिए विवेक भी विवेकी लोगों के द्वारा महापुरुष जो होंगे विवेकी ज्ञानी उनके द्वारा दृष्टेर दृष्टा दृश्य थे जो दृष्टि का दृष्टा रूप से दिखाई पड़ता है यह अर्थ करता दृष्टेर दृष्टा पूर्व में यह यशो अक्षणी पुरुष दृश्य थे दृष्टि के दृष्टा रूप से दिखाई पड़ता है ये चार विशेषणों से युक्त व्यक्ति के द्वारा दिखाई दिखाई देता है निवृत्त चक्षु भी ब्रह्मचर्य साधन संपन्न ही शांत ही विवेक भी अधिकारी ऐसे होना चाहिए उनके द्वारा दृष्टि के दृष्टा रूप से दिखाई पड़ता है कहा क्यों चक्षुषा चक्षु कहा है इत्यादि श्रुत्यंतरात अन्य श्रुति में ऐसा कहा चक्षुषा चक्षु ऐसा माने या टीका में बताएंगे वृद्धार परिषद बताएंगे वहां भी है केनो परिषद में है श्रोत्र से श्रोत्रम सौ प्राण से प्राण यद वाचो वाचम चक्षुषा चक्षु अति मुचरीरा चक्षु का भी चक्षु कहा आंख का भी आंख है बोला उसको हाँ। माने आंख का आंख क्या इस आंख का दूसरा आंख नहीं ये आंख बाहर देखने के लिए विषय के देखने के लिए है किंतु इस आंख को देखने वाला आत्मा है आंख ठीक है कि नहीं हमें मालूम होता है एक अंधा आदमी को बोला जाए तू देखता है मैं क्या मजाक कर रहा है मैं नहीं देखता हूं मेरी आंख नहीं है उसको ये अनुभव है और ये आंख वाला व्यक्ति को कहा जाए तू अंधा है वो मानने को तैयार नहीं है नहीं मेरे आप ठीक है अभी दिख रहा हूं ऐसा बोलता है वो चक्षु का चक्षु आत्मा है चक्षु का चक्षु है वो चक्षुषा चक्षु चक्षु का भी चक्षु है कहा है क्या उपनिषद में भी है को भी है इसलिए दृष्टि के दृष्टा ये जो दृष्टि है ना ये बाहर देखने वाली दृष्टि हम्म, विषय विषय को देखने वाली दृष्टि है जो दृष्टि है इसको चक्षु कहते हैं इसके भी दृष्टा रूप से दिखाई पड़ता है दृष्टि का दृष्टा दृश्य दे दृष्टि के दृष्टा को दिखाई पड़ता है किनके द्वारा निवृत्त चक्षु भी ब्रह्मचर्या के साधन संपन्न ही शांत ही विवेकी धीर दृश्य थे क्यों ये यशो अक्षर पुरुषो दृश्य थे का यह अर्थ है ननु आगे शंका है ननु अग्निवीर उत्तम वितथम अग्नियों ने कहा झूठा हो गया अग्नियों ने जो कहा था झूठा हो गया क्यों मिथ्या है वो वचन क्यों यथ आचार्य से गतिम भक्ता है थी गतिमात्र से भक्ता है थी अवचन अग्नियों ने कहा था आचार्य क्या कहेंगे केवल तुम्हारे बारे तुम्हारे लिए गति को बताएंगे कहा था आचार्य ब्रह्म का उपदेश करने लग गए हाँ, अग्नियों की बाद झूठी हो गई अग्नियों का ये शब्द था आचार्य तो ते गतिम भक्ता आचार्य तुम्हें गति बताएंगे उपासना फल की प्राप्ति के लिए गति बताएंगे कहा था किंतु गुरु जी तो यहां ब्रह्म का उपदेश करने लग गए तो मिथ्या हो गया अग्नियों की बात मनो अग्निवीर उत्तम वितथम वितथम मन मिथ्या अग्नियों के जो कहा गया वचन है क्या वचन था आचार्य स्तुते गति बता ही तो था आचार्य तुम्हें गति बताएंगे मार्ग बताएंगे कहा वो झूठा हो गया क्यों यत आचार्य स्तुते गति बक्ता इति गति मात्र से बक्ता इति गति मात्र के कथन करेगा ऐसा अग्नियों ने कहा था आचार्य के बारे में किंतु या आचार्य तो और बोलने लगे दूसरी बात आगे क्या बोलने वाला व्यक्ति अग्नि को पता ही नहीं भविष्य के बाद ज्ञान भी नहीं अग्नि होगी दूसरी बात है दो बातें झूठ एक तो झूठ हो गई की बाणी दूसरे भविष्य के बारे में उनको ज्ञान नहीं अज्ञानी है अग्निया दूसरा होगा भविष्य विषय अपरिज्ञान हो जब अग्निनाम और भविष्य के विषय में अपरिज्ञान परिज्ञान ज्ञान नहीं है उनको क्यों उनको ज्ञान होता तो बोलना चाहिए था आचार्य ब्रह्म का उपदेश करेगा बोलना चाहिए था भविष्य में जो आचार्य उपदेश करते हैं ब्रह्म को उपदेश करने जा रहे हैं ये ऐसो अक्षण पुरुषो दृश्य थे ऐसा आत्मित दो बातें बोल रहे हैं तो भविष्य के बारे में उनको ज्ञान भी नहीं है एक बात अब पहली बात उनकी वाणी मिथ्या है मिथ्या हो गई क्यों हो गई उन्होंने एक कहा था आचार्य में गति के बोला था यहां तो आचार्य भिन्न उपदेश करने लग गए ये तो संसाधन हो अग्निवीर उत्तम वितथम अग्नियों ने जो कहा मिथ्या है यथ जिससे कि देखो क्यों मिथ्या है आचार्य स्तुते गतिम वक्ता यही अग्नियों का शब्द था आचार्य तुम्हें गति बताएंगे गति मात्र से वक्ता केवल गति के बाद बारे में कथन करने को बोला था अग्नियों ने अवोचन इति अवोचन इति कहा था और भविष्य विषय अपरिज्ञानम च अग्नि नाम अग्नियों को यह भी भविष्य के विषय में परिज्ञान नहीं ज्ञान नहीं अज्ञान है अगर ज्ञान होता तो आचार्य ऐसे शब्द बोलेंगे कहना चाहिए था क्या शब्द ये यशो अक्षणी पुरुषो दृश्य ऐसा आत्मदेहोवाचा ये तब अमृतम अभयम ये तब ब्रह्म इत्यादि बोलना चाहिए था किंतु ज्ञान नहीं ये भी सिद्ध हो गया ये कहा शंका आ गई तो उत्तर देते नहीं सदोषा कोई दोष नहीं कहा देखो अग्नियों ने जो कहा था सुख और सुखाकाश के बारे में कहा था कम ब्रह्म खम ब्रह्म करके सुख विशेष को कहा था और प्राणो ब्रह्म करके उसका आश्रय आकाश को कहा था कम से लिया था सुख और खम से लिया था आकाश सुखाकाश व अक्षर दृश्य देती द्रष्टुर अनुवादात कहते हैं तो अग्नियों ने जिस शब्द को कहा था उसी का आचार्य ने अनुवाद किया उन्होंने कम ब्रह्म खम ब्रह्म कहा था ब्रह्म का उपदेश किया था वही है यहां भी सुख और आकाश कम शब्द से सुख को और खम शब्द से आकाश सुखाकाश से व सुख और आकाश का ही अक्षणी दृश्य था वही सुखाकाश को ही आंख में दिखाई पड़ता है करके गुरु जी ने अनुवाद किया अग्नियों ने जो कहा उसी का अनुवाद किया अनुवाद मात्र है गुरु जी के बचा अनुवाद दृष्टा के अनुवाद है ये आत्मा प्राणी नाम ये आत्मा भी होगा यही आत्मा है कहा प्राणियों की आत्मा है ये आत्मा माने स्वरूप सब इसी में कल्पित है सारे प्राणियों का ये स्वरूप है आत्मा है ये आत्मा प्राणी नाम यदि होगा तो यही आत्मा है प्राणियों का ऐसा गुरु जी ने कहा एवं उक्तवान उवाचक अर्थ एवं उक्तवान इस प्रकार कहा ये स्व पुरुष दृश्य थे ये आत्मा यदि उवाच ऐसा कहा ये यदेव आत्मतत्व अवचाम जो हमने जिसको आत्मतत्व बताया कहा जिसको कहा ये आत्मतत्व कैसा है ये यशो अक्षण पुरुषो दृश्य थे ऐसा आत्म दुर्भाष करके जो आत्मतत्व मैंने कहा शिष्य से बोल रहे हैं गुरु जी क्या बोलते वो क्या है ये तद अमृतम ये अमर है अमृतम ये तद अमृतम मैंने अमरणम ये मरने वाला नहीं है अमरण धर्मी ऐसा धर्मी है मरण धर्मी नहीं है अवर्ण धर्मी है अमृतम का अर्थ माने अविनाशी अविनाशी उसी का अर्थ यह आत्मा अमृत है अमृत माने अमरण धर्मी वाला है अमरण धर्मी वाला है अमरण धर्मी माने अविनाशी है अविनाशी अतः एवं अवयम जो अविनाशी होगा उसको भय नहीं होता जो विनाशी को भय होता है कल मरूंगा इससे मरूंगा उससे मरूंगा जो विनाशी होगा उसको डर रहेगा अविनाशी है आत्मा इसलिए भय नहीं उसको अवयम अतएव अवयम अविनाश अमृत होने के कारण ही अभय है दूसरा विशेषण इसलिए है यसे ही विनाश आशंका तस्य भय उपत्ति है जिसके विनाश की शंका होगी शरीर विनाश की शंका है अभी नष्ट हो जाए कभी नष्ट हो जाए या भय पैदा होता है यसे ही विनाश आशंका जिसके बारे में विनाश की आशंका हो तस्य भय उत्पत्ति उसकी भय की उत्पत्ति हो जाती है मैं मरूंगा करके डरता है वो विनाश की आशंका होने पर तद अभावात उस इस आत्मा में विनाश ने अमृत बोला हुआ है अमृत कहा हाँ, अमर कहा अमरणधर्मी धर्मी कहा अविनाशी कहा इसलिए तद अभाव विनाश की आशंका का अभाव होने से अभयम वो अभय है अतः अतएव एतद ब्रह्म जो अमर होगा और अभय होगा वही ब्रह्म होता है अतः एतद ब्रह्म बृहद अनंत विधि बृहद ब्रह्म बहुत बड़ा है व्यापक है सबसे बड़ा है इसलिए ब्रह्म कहा जाता है ब्रह्म वृद्ध धातु से मन प्रत्यय करके ब्रह्म बनाया जाता है प्रणाली बृहद उच्च ऐसा सूत्र है तो बृहद ब्रह्म का अर्थ बृहद माने अनंतम ये बृहद है माने बृहद कैसा अनंत है आ, देखो अन, अनंत दो से होता है एक तो संख्या से अनंत होता है देश काल आदि से अनंत होता है बहुत है अनेक है गिना नहीं जाता है उसको आनंद बोलते हैं संख्या में आनंद और एक होता है सभी देश में है सभी काल में है सभी वस्तु में है वो आनंद है देश काल वस्तु परिच्छेद से रहित ब्रह्म शब्द का अर्थ ऐसा होता है सभी देश में है सभी काल में है सभी वस्तु में है ये शरीर सभी देश में नहीं है यहां है वहां नहीं है यह अंत वाला है ये परिचिन्न है इस देश में है उस देश में नहीं है और इस काल में उत्पत्ति के पहले नहीं था आगे विनाश के बाद भी नहीं रहेगा कभी होता कभी नहीं होता है शरीर ऐसा है यह अंत वाला है सभी काल में नहीं है वर्तमान काल में ही है अव्यक्तादीन भूतानी व्यक्त मध्यानि वार्ता अव्यक्त निग्राम देव तत्र का परिवर्तन पहले अव्यक्त अवस्था में था दिखता नहीं था पैदा होने के पहले यह आकृति दिखती नहीं थी अभी व्यक्त हो गया दिखाई पड़ रहा है अभी इसकी चेहरा दिखाई दे रहा है और अव्यक्त निर्धारण ये आगे फिर अव्यक्त होना है इसमें फिर छिपना है आगे यह आकृति खो जाना है कुछ दिन के बाद जब राम नाम सत्य होगा आकृति समाप्त हो जाएगी ऐसा सारे प्राणी की स्थिति ऐसी है कोई भी शरीर जितने भी शरीर है सब पूर्व अवस्था अव्यक्त है बीच में व्यक्त है आगे फिर अव्यक्त होना तो ये विनाश वाले हैं तो ब्रह्म ऐसा है देश काल वस्तु परिच्छेद के घेरे से रहित है इसलिए ब्रह्म कहा जाता है ये कहा एतद अमृतम अभयम तो ब्रह्म ये कहा किंच अस्य ब्रह्मणो अक्षय पुरुष से महात्म अक्षय ब्रह्मणो अक्ष पुरुष से महात्म ये जो अक्ष में रहने वाला जो पुरुष है आंख में रहने वाला जो पुरुष है ये अक्षिणी पुरुषों दृश्य थे जो अक्षय पुरुष है आंख में रहने वाला पुरुष की जो महात्मा महिमा देखो इसकी महिमा सुनो क्या है हाँ। तत्त्र तत् माने तत्र माने उसकी कुर्सी में भी यदि घी डाला जाए अथवा जल डाला जाए तो वह स्पर्श नहीं होता बाहर निकल जाता जब उसके स्थान की भी इतनी महिमा है असंगता है जहां वो रहता है इस अक्षी की भी ऐसी महिमा तो उस पुरुष की क्या असंगता में क्या कहा क्या न्याय लगाकर बोलना चाहते हैं कहा तत् माने तत्र जो तो तत् का अर्थ तत्र पुरुष से स्थाने अक्षण तत्र माने उस पुरुष के स्थान जो अक्षी है कुर्सी है जो रहने का स्थान जहां पुरुष के माने इस आत्मा का रहने का जो स्थान है कुर्सी अक्षी में यद्यपि अस्मिन अस्मिन सर्पेरवा उदगम्बा सिंचती इसमें घी क्या सिंचाई करता हो चाहे जल का सिंचाई करता हो ही एवं में भी एवं गच्छति इसको पक्ष में भी बोलते हैं वर्त में बोलते हैं पंख से निकल जाते हैं पक्ष माने पक्ष पंख दो पक्ष इसके इसी से निकल जाते हैं बाहर न चक्षुषा संबंध थे चक्षु के साथ इससे जल का घी का संबंध घृत का संबंध नहीं होता पद्म पत्र नहीं बोलते कम जैसे पद्म पत्र के साथ में जल का संबंध नहीं होता कमल के पत्ते के साथ जल का संबंध होता उसी प्रकार चक्षु के साथ जल का अथवा घृत का संबंध नहीं होता उसके स्थान का भी ऐसी महिमा है जहां ये पुरुष है ये सो अक्षण पुरुषो दृष्टि उसके स्थान की भी ऐसी महिमा है स्थान से आप ये तद महात्म देखो उसके स्थान जहां रहता है उसकी भी ऐसी महिमा है इतनी असंगता है ये चक्षु में किम को ना स्थान ही रहो उस स्थानी की तो बात ही क्या कहना फिर कई कैपुत्र न्याय जब कुर्सी भी ऐसी असंग है तो उसमें रहने वाले की तो क्या कहना किम पुनः स्थान ही रहो अक्षी पुरुष से जो आत्म रहने वाले पुरुष का निरंजनत्व माने असंगता असंगत्व उसके असंगत के बारे में कहना क्या है किम निरंजन किम पुरुष निरंजन तो वक्तव्य उसके बारे में कहना क्या रहा गया यदि अभिप्राय ऐसा कहा माने कैवतिक न्याय से ये कहा गया ये बताया ठीक है कहते हैं अक्षय स्थान है तद उपलक्षित हो दृष्टा या ये सब पुरुषो दृश्य थी संबंध माने ये सो अक्षिणी पुरुषों दृश्य थे माने अक्षी स्थान में उसके द्वारा उपलक्षित जो दृष्टा है दृष्टा पुरुष दृष्टा माने दृष्टि का दृष्टा किसकी दृष्टा या आंख का आंख को देखने वाला नहीं दृष्टि दृष्टा और पश्य तो इस दृष्टि के दृष्टा को तुम देख नहीं सकोगे तुम तो विषय को देखोगे नील पिता आदि को देखोगे ये जो दृष्टि है देखने वाली शक्ति इसको भी देखने वाला जो है आंख ठीक है कि नहीं वो जानने वाला आंख ठीक है कि नहीं वो हम जानते हैं हम दृष्टि के दृष्टा होते हैं कान ठीक है कि नहीं हमको पता होता है दूसरे को नहीं पता होता दूसरा तो अनुमान करेगा हाँ। तो ऊंचा बोलेगा तो बोलेगा अच्छा ये थोड़ा बहरा है ऐसा अनुमान करेगा क्या पता वो जानबूझ के ऊंचा बोला हो उसने उसको क्या पता हाँ, अनुमान गलत हो जाता है सही बात है तो नहीं दृष्टि और दृष्टारम पश्य है ऐसा है तो ये कहा यहां तो दृष्टि के दृष्टा रूप से दिखाई पड़ता है किनको दिखाई पड़ेगा चार विशेषण से युक्त व्यक्ति को दिखाई पड़ेगा सबको नहीं चक्षु में जो पुरुष दिखाई पड़ता है चार विशेषण निवृत्त चक्षु भी इत्यादि है ब्रह्मचर्यादि साधन संपन्न शांत ही विवेक भी ऐसे चार विशेषण है उसके जो साधन चतुष्टय संपन्न बोलते हैं ऐसे चार विशेषण से युक्त होना चाहिए ऐसे व्यक्ति के द्वारा होगा नासो सर्वेशा छायात्वातिरिक्त दृष्टिगोचरता मात्र आशंका कहते हैं ये जो है ना सबकी दृष्टि में एक ही है छाया दिखाई पड़ती है एक आदमी दूसरे व्यक्ति की आंख में देखेगा अपनी छाया देखेगा उससे अतिरिक्त तो कुछ नहीं दिखाई पड़ता किसी को भी पूछो छायात्मा से अतिरिक्त तो कुछ नहीं दिखता आंख में तो छायात्मा यही शंका कर रहे हैं असौ न सर्वेशान छायात्मा त्रिको दृष्टि जो दृष्टि का दृष्टा आपने जो कहा वह छायात्मा को छोड़ करके अन्य नहीं हो सकते नहीं होता किसी की दृष्टि में भी नहीं आता असौ न सर्वेशा छायात्मा को दृष्टि गोचरता आचरती कोई भी दृष्टि के विषय नहीं बनता छायात्मा ही दिखाई पड़ेगा एक दूसरे के आंख में देखेगा छाया दिखेगा ये शंका आ गई तो कहते हैं नहीं अधिकारी में विशेष अरे बाबा सबको नहीं दिखे अधिकारी का विशेषण लगाते हैं चार विशेषण से युक्त अधिकारी होगा उसको दिखाई पड़ेगा बाकी को तो छाया तो दिखेगा चार विशेषण से युक्त होगा उसको दृष्टि का दृष्टा दिखाई पड़ता है आत्मदर्शन होता है क्या लगता है निवृत्त चक्ष हुई इत्यादि विशेषण लगाया अधिकारी का निवृत्त माने निवृत्तानी पर विमुखी चक्षुम विमुखानी चक्षुंशी बाह्यानी करणानी ऐसा बहुरी समास है निवृत्त है कहा से विषयों से विमुख कर दी गई निवृत्त का विषयों के द्वारा विमुख कर दिए गए हैं चक्षुषी माने बाह्यानी रानी चक्षुषी का अर्थ बाह्य इंद्रिया सारे हम्म, ऐसे ऐसा जिनका ऐसा हो गया तही निवृत्त चक्षु भी अर्थ होगा बाह्य करणाम सोवस तो अधीनम विशेषणांतरम आदत्य है दूसरी बात बाह्य इंद्रियों को अपने अधीन करने के लिए दूसरा विशेषण भी है उसके बाह्य इंद्रिय अपने अधीन हो जाते हैं किसके होते हैं ब्रह्मचर्य साधन संपन्न जो ब्रह्मचर्य आदि साधन से संपन्न व्यक्ति होंगे उनकी इंद्रियां शांत हो जाती है विषयों से विमुख रहती है विषय में लोलुप नहीं होती है कहा बाह्यकरणानाम स्वभस अधीन स्वभसत्वाधीनम विशेषणांतरम हैं जो बाह्य इंद्रिया हैं उसका अपने अधीन करने में अन्य विशेषण का ग्रहण करते हैं ब्रह्मचर्यादि साधन संपन्न ही कहा आगे मनसो विषय पारवश्य राहित्य विशेषणांतरा मन में भी विषय का रहित होने में विषय रहित होने में भी एक विशेषण लगाते हैं शांत ही कहा हाँ, मन को शांत करो विषय से दूर हो जाएगा मन ऐसा है यथा निरिंद्रो बन्नी स्वयं नुसाम्यति तथा वृत्ति क्षय चित्त स्वयं नुसाम्यति ऐसा है जैसे इन अग्नि को शांत करना तो ईंधन देना बंद करो अग्नि शांत हो जाएगी और ईंधन देते जाओगे अग्नि को शांत करना चाहोगे गलत नहीं हो सकता यथा निरिंदनो बनी सोयो न उपशांत थे अपने कारण में लीन हो जाता है शांत हो जाता है यदि ईंधन रहित हो तो तथा वृत्ति छया चित्तम ये वृत्ति बनाना छोड़ो आप घटाकार पटाकार मठाकार मत करो मन शांत हो जाएगा ऐसा कहा तथा वृत्ति चित्तम स्वयं मनसो विषय पारवश्य राहित्य विशेषण मन को विषय से रहित करने में अन्य विशेषण करते हैं शांत ही कहा मन शांत होगा तेसाम निवृत्त चक्षु थे हेतु महा इनके निवृत्त चक्षु में हेतु बताते हैं विवेकी भी कहा विवेकी को द्वारा दिखाई पड़ेगा चक्षु में दृष्टा पुरुष सबके द्वारा नहीं बाकी वो तो छाया दिखाई पड़ेगा विरोचन के तरह कहा अच्छा पुरुषो अक्षणी दृष्टा इतर बृहतारण स्तुतिम प्रमाणित पुरुष जो है ना अक्षी का दृष्टा है ये हम्म। आंख में दृष्टा रूप से दिखाई पड़ता है कहा इसमें वृद्धारण श्रुति को प्रमाणित किया चक्षु से चक्षु कहा है वृद्धारण बोलते हैं जन्म परिषद में भी है बहुत सारी चक्षु सा चक्षु अच्छा ननो आचार्य अपूर्व विद्या उपदेशात अग्निनाम उक्ति मिथ्या उक्ति मिथ्या प्राप्त आचार्य ने कुछ अपूर्व उपदेश किया पहले नहीं कहा था अभी विशेष उपदेश हो गया आचार्य के द्वारा इसलिए अग्नियों की वाणी में झूठी हो अग्नियों की वाणी झूठी हो गई क्यों अग्नियों ने इतना कहा था कि आचार्य तुम्हारे लिए गति के विषय में बताए बोला था किंतु एक विशेष उपासना विद्या बताइए आचार्य ने आप अक्षय पुरुष के विषय में बताइए इसलिए अग्नियों की वाणी मिथ्या है ये शंका हो गई प्राप्त है कि शंका ये कहा ननु आचार्य अपूर्व विद्या उपदेशात आचार्य ने अपूर्व विद्या का उपदेश किया जब पूर्व कथित विद्या नहीं इसलिए अग्निनाम उक्तिर मिथ्या अग्नियों के जो वचन है उक्ति माने वचन मिथ्या है मिथ्या प्राप्त है कि शंकर शंका करता है ननु इत्यादि शंका उठाई समय हो गया है यह ओमप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक्प्राणश्चक्षुस्रोत्रमथोन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वम् ब्रह्मोपनिषदम्